सर अब तो कुछ बचा ही नहीं है कहने को स्वाति ने विक्रांत और अग्निहोत्री के आगे चिल्लाते हुए कहा सब कुछ क्लियर हो गया है जैसे हमने सोचा था ठीक वही हुआ देखिए मोनी ने एक करोड़ रुपए सुमेश को देकर उसे मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया वो अपने रास्ते से मेहता सिस्टर्स और रवि मेहता इन तीनों को हटाना चाहती थी इसीलिए उसने ये सब किया अब उसका पूरा खेल सामने आ चुका है मोहनी ही इस मर्डर केस के पीछे की पूरी मास्टर है ये तो वाकई में बहुत अजीब बात है अग्निहोत्री ने शॉक्ड होते हुए अपने दोनों हाथों से ताली पीटते हुए कहा लेकिन आज तक मैं इस औरत के बारे में जान क्यों नहीं पाया आखिर चेयरमैन साहब की वाइफ ने ही उनकी दोनों बेटियों को मरवाया है ये तो वाकई बहुत बड़ी न्यूज है स्वाति और अग्निहोत्री एक दूसरे के साथ बात करते हुए काफी हैरत में पड़े हुए थे लेकिन विक्रांत का फोन रखने के बाद से अभी तक मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था सर अब क्या हुआ स्वाति ने सवाल किया आकाश सर उधर तैयार हो रहे हैं अब आप वेट किसका कर रहे हैं मैनेजर साहब विक्रांति ने स्वाति की बात को कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसने अग्निहोत्री की तरफ देखते हुए पूछा अगर मोहनी ने यह मर्डर प्लान किया था तो फिर इसने इतनी बड़ी गलती क्यों की थी मतलब मेहता साहब के बैंक अकाउंट से एक करोड़ रुपए निकालकर वो पैसे उसने सोमेश को लॉकर में रखने के लिए दे दिए ये तो बेवकूफ़ी हुई ना अच्छा आप मुझे ये बताइए वो जो पैसे लॉकर में मिले हैं उससे ये प्रूफ करने का क्या तरीका है कि वो मेहता साहब के पर्सनल अकाउंट से निकले पैसे हैं बिल्कुल है इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है स्वाति ने बीच में ही बोलते हुए कहा अगर कोई एक करोड़ कैश बैंक से निकालता है तो उसके ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बैंक के पास जरूर होगा नोट चेक करेंगे तो सारा सबूत सामने आ जाएगा नहीं ऐसा नहीं है मैनेजर ने स्वाति की बात बीच में ही काटते हुए कहा दरअसल ये पैसे बैंक अकाउंट से नहीं निकले हैं ये पैसे कैश में पहले ही रखे हुए थे मेहता साहब के पास आपको पता नहीं है बड़े लोग कैश अमाउंट कैसे सेव करके रखते हैं ये मेहता साहब का प्राइवेट अकाउंट था किसी बैंक का अकाउंट नहीं था क्या आप कहना क्या चाहते हैं स्वाति ने चौंकते हुए कहा आपका मतलब मोहिनी ने ये पैसे मेहता साहब के अकाउंट से निकाले हैं और फिर उसने इन पैसों का इस्तेमाल मेहता साहब की दोनों बेटियों को मरवाने के लिए भी किया है लेकिन फिर भी हम ये बात अब साबित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है आप मेहता साहब के जनरल मैनेजर हैं आपके पास ऐसा तरीका तो होगा ही जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये पैसे मोहनी ने ही निकाले थे देखिए तरीका तो है लेकिन मैनेजर अग्निहोत्री ने अपनी भुआई टेढ़ी करते हुए कहा अगर मैं अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा दूंगा तो भी इन पैसों के बारे में पता लगाने में बहुत दिक्कत आएगी इसमें बहुत सारे पैसे तो विदेश से आए हुए थे मतलब कि जिन्हें ट्रेस करने में तकरीबन दो तीन महीने लग जाएंगे और दूसरी चीज अगर हमने ये साबित कर भी दिया कि लॉकर में मिले पैसे मेहता साहब के प्राइवेट अकाउंट वाले ही पैसे हैं तो भी उससे ये थोड़ी ना साबित होगा कि वो पैसे मोहनी जी ने निकाले थे और उन्होंने ये पैसा मर्डर के लिए दिए स्वाति ने फिर परेशान होते हुए कहा यह पैसा ही सिर्फ एकमात्र ऐसा सबूत है और अगर हम ये नहीं प्रूव कर सकते कि पैसा सुमेश को मर्डर करने के लिए दिया गया था तो फिर हम क्या करेंगे क्या करना चाहिए हमें इसी चीज की टेंशन तो मुझे भी हो रही है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा रवि मेहता ने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया क्योंकि उसके जुर्म को साबित करने के लिए पुलिस के पास प्रॉपर सबूत था उमेश ने रवि मेहता को फंसाने के लिए पूरा सबूत इकट्ठा करके रखा था लेकिन मोहनी के केस में सब अलग है अगर हम ये नहीं प्रूव कर सकते कि वो एक करोड़ रुपए मोहनी ने मेहता साहब के अकाउंट से निकाले थे तो फिर उसने ही ये पैसे सुमेश पांडे को मेहता सिस्टर्स का मर्डर करने के लिए दिया था तो फिर हम किसी भी सूरत में मोहनी को गुनागार नहीं साबित कर सकते हमारे पास मोहनी को अरेस्ट करने के लिए भी कोई प्रूफ नहीं है तो तुम आकाश को बोलो कि वो कोई जल्दबाजी ना करें लेकिन स्वाति बहुत परेशान नजर आ रही थी तो फिर हम बस चुपचाप होकर बैठ जाए और मोहनी की चालाकी पर ताली बजाते रहे वाह क्या क्राइम किया है पुलिस जानती है कि उसने ही मर्डर करवाया है लेकिन फिर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते कमाल है दिक्कत यह है कि विक्रांत ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा यह केस अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है अभी भी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि मोहनी ही इस पूरे केस की मास्टरमाइंड है सर एक करोड़ एक करोड़ रुपए गायब हुए हैं मेहता के प्राइवेट अकाउंट से ये सब कुछ क्लियर करने के लिए काफी नहीं है स्वाति ने हैरत जताते हुए कहा आपको अभी भी लगता है कि कोई दूसरा आदमी इस केस के पीछे है तो फिर और कौन हो सकता है ये तो क्लियर है कि इस मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा मोहिनी को ही हो रहा है तो फिर अगर वो नहीं है तो कौन हो सकता है नहीं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा भले ही मोहिनी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है और ये भी हो सकता है कि वो इस केस में इन्वॉल्व हो लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ये पूरी प्लानिंग मोहिनी की ही नहीं है तो फिर कौन हो सकता है स्वाति ने कंफ्यूज होते हुए कहा कहीं खुद मेहता साहब तो नहीं क्या बात कर रही हैं आप मैनेजर ने थोड़े सख्त लहजे में कहा उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींचनी शुरू हो चुकी थी ऐसे फालतू बात आप मत कीजिए ठीक है सही बात स्वाति ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा अगर सूरज मेहता साहब कोमा में होने का नाटक भी कर रहे हैं तो भी वो अपनी ही बेटी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों देंगे अगर उन्हें किसी को मारना ही था तो वो अपनी पत्नी यानी कि मोहनी के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देते हम्म, मोहनिका मर्डर विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कुछ देर सोच कर कहा हाँ पहले जब रवि मेहता ने मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो फिर उसने मेहता सिस्टर्स को ही क्यों मरवाया मोहनी के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट उसने क्यों नहीं दिया वो दोनों बहनों को ही क्यों खत्म करना चाहता था वो तो पता है मुझे स्वाति ने जवाब दिया जब पहले रवि मेहता को इंटेरोगेट किया जा रहा था तो उसने अपने बयान में इसका कारण बताया था उसने कहा था कि अगर वो मोहनी का मर्डर करवाता तो फिर ये दोनों बहनें बच जाती और फिर प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलता लेकिन मेहता सिस्टर्स को मारकर और फिर मोहनी को इस मर्डर के इल्जाम में फंसाने से उसका रास्ता साफ हो रहा था इसलिए उसने मोहनी का मर्डर करने के बजाय मेहता सिस्टर के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देना ज्यादा बेहतर समझा रवि मेहता बहुत कमीना इंसान है मैनेजर ने भावुक होते हुए कहा शगुन और सलोनी उसकी भतीजी भी थी उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने भाई की बेटियों को मारने में कितना गिरा हुआ आदमी है ये और हाँ स्वाति ने आगे कहा अगर रवि मेहता ने सिर्फ मोहनी का ही मर्डर करवाया होता तो फिर उसे कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी मिल सकती थी लेकिन फिर लोगों का शक भी तो उसके ऊपर चला जाता और फिर पुलिस भी रवि मेहता पर सबसे ज्यादा शक करती इसलिए मेहता सिस्टर्स को मारना और फिर मोहनी को इस मर्डर केस में फंसाना ये सबसे सेफ काम था एक बार अगर उसको इसमें सफलता मिल जाती तो फिर उसके दोनों हाथ में लड्डू थे इसलिए उसने ये रिस्क लिया था सही पूछो तो वो एक तीर से दो शिकार कर रहा था एक तरफ मेहता सिस्टर भी रास्ते से हट रही थी और फिर उधर मोहनी भी उसके रास्ते से हट रही थी ओ अचानक से विक्रांत की आंखें बड़ी हो उठी उसने कुछ सोचते हुए कहा अब मुझे ये पूरा माजरा समझ में आ रहा है इस पूरे केस का मास्टरमाइंड तो वो है हाँ क्या स्वाति ने चौंकते हुए कहा कौन है सर किसकी बात कर रहे हैं आप स्वाति विक्रांत ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा तुमसे मैंने कहा था ना याद नहीं तुम्हें ये क्राइम केस है बहुत चालाकी से क्राइम किया जाता है और मुजरिम को पकड़ने के लिए हमें मुजरिम से भी ज्यादा शातिर होना पड़ता है धैर्य से काम लो धैर्य से जल्दबाजी नहीं मैं समझ रही हूँ लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि स्वाति ने विक्रांत की आंखों में देखते हुए कहा वो जल्द से जल्द विक्रांत के मुंह से अपने सवाल का जवाब सुनना चाहती थी तभी वहां पर अचानक से मैनेजर अग्निहोत्री साहब का फोन बज पड़ा और फिर फोन उठा लिया फोन पर बात करते करते उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था उसने फोन रखने के बाद काफी भावुक होते हुए कहा आई एम सॉरी मुझे अब जाना होगा वो हॉस्पिटल से फोन था मेहता साहब की हालत बहुत सीरियस है वो अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं कभी भी उनकी जान जा सकती है हाँ क्या स्वाति ने अचंबित होते हुए कहा हाँ I am really very sorry but I need to go please आप आप लोग अग्निहोत्री ने इतना ही कहा और फिर दौड़ते हुए वहां से निकल गया सर ये स्वाति ने हैरान होते हुए विक्रांत की तरफ देखा इस वक्त विक्रांत भी अवाक होकर खड़ा था उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और वो इस सोच में इतना डूबा हुआ था कि मानो सुन खड़ा हो sir sir Vikrant sir Swati लगभग चिल्लाते हुए उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन विक्रांत मूक बनकर खड़ा रहा तकरीबन दस मिनट तक यूं ही खड़े रहने के बाद विक्रांत ने अचानक से स्वाति की तरफ देखते हुए कहा जल्दी से आकाश के पास फोन करके उसे हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहो अब अगर मेरा प्लान सही हुआ तो फिर हॉस्पिटल में ही हमें इस पूरे मर्डर केस का मास्टरमाइंड मिल जाएगा